हे राक्षस राज सुनिए विनय हमारे जप तप आपने के हैं वरदान अनेक लिए हैं सोहे लंका का ताज सुनिए विनय हमारी हे राक्षस राज सुनिए विनय हमारे जप तप आपने किए है वरदान अनेक लिए है सोहे लंका का ताज सुनिए विनय हमारी है पौत्र पुलस्त यति के सद्वादी सत्यवादी सत्यव्रती के वंश की रखिए लाज सुनिए विनय हमारी हे राक्षस राज सुनिए विनय हमारी नहीं वो उत्तम यह काज सुनिए विनय हमारे हे राक्षस राज सुनिए विनय हमारी रण नहीं संधि करिए सीता दे प्रभु से मिलिए शरण देंगे रघुराज सुनिए विनय हमारी हे राक्षस राज सुनिए विनय हमारी यह राध श्याम निवेदन है सच्चे सुख का साधन मानिए इतनी आज सुनिए विनय हमारी हे राक्षस राज सुनिए विनय हमारी हे राक्षस राज सुनिए विनय हमारी रोचान राक्षस राज को अंगद काव्याख्यान आंख बदल कर कहा चुप बकवादी अज्ञान क्या तुम ही है अंगद हे अंगद क्या तुम ही बालिका बालक है क्या तू ही बास के ज्वाला है क्या तू ही बालिका घालक है यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं संघारा जिसने बाल बाप धिक है तू उसका दास हुआ जरे मित्र पिता का है तेरे उस पर न तुझे विश्वास हुआ वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप भान मेरा तेरा यश कमल खिला होता अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए इस बड़े राज्य का लंका का कल से सेनापति हो जाए कूट वचन सुन बाल सुतम करने लगे विनोद सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ लंका का सेनाध्यक्ष बनू यह बुद्धि और वीरता कहाँ सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है दो चार नहीं सैकड़ो वहाँ सेनापति बनने काबिल है पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस महले सहने को नारियां चुराए जाए जहाँ ऐसे कुराज में रहने को अन्यथा यह विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को इसलिए त्याग कर वैर भाव उज्ज्वल मन का दर्पण करिए कीजिए संधि रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए यह खूब समझ लीजिए कि श्रीलंका में पाँव रख चुके हैं निश्चर से ही न करूँगा मैं यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं रावण बोला प्रण नहीं है यह अब सब बकवास कैसे निश्चर ही नमही निश्चर जब है पास मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं मिलते हैं अभय दान देने लंकेश्वर बना डालते हैं जब तलक विभीषण निश्चर्य उस दल में शोभा पाएगा निश्चर से ही न करूँगा मैं यह प्रण बकवास कहाएगा बलिहारी इस समय के बोले कपिबुद्धि धाम निश्चर समझा आपने क्या अपने शरीर का नाम तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है आचरण आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है जाता तो शरण उनकी नहीं वही यथार्थ में निश्चर है सोने काट करते हुए अंगद के जब बहन तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ कर नैन अच्छा यदि संधि चाहते हैं स्वीकार मुझे इन नियमों पर पहले दे भेज विभीषण को सिर रखे मेरे चरणों पर फिर तोड़े से तो समुद्र का आ सके न कोई लंका में फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में उस समय दबा तृण दातों में शरणागत हो इन बाणों की कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की रावण की यह बात सुना हुए बाल सुतलाल फिर भी बोले पूर्ववत दबा क्रोध की ज्वाल बस यही या कुछ और अधिक यह तो मांगे साधारण है मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे लंका का माल विभीषण है लंका में उसे भेज भी देंगे हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको तो हम भर देंगे पर एक ही हुई है महाहानि वह कैसे पूरी कर देंगे जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी खा के नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी रावण अब घर जा कहा अरे ढीठ हो मौन लंकापत से रण करे ऐसा जग में कौन मालिक तेरा नाबालिक है फिर नारी का दुख सहता है उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है वानर सम्मूली गाजर है सुग्रीव पेड़ सरिता का जिस जाम्बवंत पर फूले तुम चौथापन है अब उस भटका नल नील थील पे करे सिखे न युद्धन आनव है भक्त विभीषण भक्त निराम क्या जाने खड्ग उठाना व कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया क्या कहूँ तोड़ कर तीली को धोखे से पक्षी चला गया अंगद बोले हैं फिर कहिए यह क्या श्री मुख ने कथन किया क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया वह क्या जाने रण का कौशल बस पूछ नचाया करता है है भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियाँ घुमाया करता है कभी पत्नी चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे आ गए ध्यान में वह मेरी जो उसको काम बताए थे पहले लंका में जाते ही सीता माता के सुध लेना फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना यह आज इस समय प्रकट हुआ कुछ काज न कर पाया है इसलिए आ पहुँचाने अभी शायद मुँह तक न दिखाया है कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया जा छुपा कौन से जंगल में जो तुम्हें खटकता है राजन वह है ही नहीं रामादल में अंगद की यह बात सुन कापा असुर समाज कहे कही पूरे करे यही न चारों काज घी पड़ते ही जिस तरह उत्तेजित हो ज्वाल त्यो ही राक्षस राज भी भबक उठा तत्काल बोला तुझको यह ज्ञात नहीं मैं काल जीत मत वाला हूँ जिसके काटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग विश्वाला हूँ मेरी इन कड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है से सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गरमाता है मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और दूजा है अपने शेषों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है अंगद बोले धन्य है हे जादूगर राज स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें नहीं है लाज